ज्ञान की उत्पत्ति के लिए उपाय कहा गया अंतकरण में इसे प्रणवर्थ चिंतन करके ज्ञान निर्मथन अभ्यास उसका आ, उसकी आवृत्ति युक्ति से मनन करके फिर निधिध्यासन करने से साक्षात्कार होता है तो ज्ञान से पंडित पासम दहती ननु अस असंग से उदासीन से से कुत संसार पास रूप इत्यता संसार है किसी में ब्रह्म में है या ब्रह्म भिन्न में है ब्रह्म में ब्रह्म भिन्न तो कोई है ही नहीं ब्रह्म से भिन्न का निषेध करते हैं तो ब्रह्म में ही संसार अर्थात तो ब्रह्म ही संसारी है यह भिन्न संसारी है भिन्न तो नहीं कह सकते है और फिर ब्रह्म ही संसारी ब्रह्म संसारी है अविद्या से तो असंग है ब्रह्म उदासीन है प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं निष्क्रिय है निर्विशेष है अद्वितीय है तो उसमें संसार पास कहाँ से आ गया संसार बंधन कैसे है है इसका समाधान आगे मंत्र में सैव माया परिमोहितात्मा शरीर शरीरमास्था करोति सर्व स्त्रियान्नपानादि विचित्र भोगे ही सैव जागृत परितृप्ति में सैव माया परिमोहितात्मा माया परिमोहित माया परिमोहित आत्मा यस्य माया से उसका आत्मा स्वरूप मोहित मोह विशिष्ट मोह युक्त हो गया माया से संसारित्व तो वास्तव नहीं संसार भी वास्तव नहीं है मरुभूमि में जल दिखता है जल है ही नहीं वास्तव कोई प्रश्न करे मरुभूमि में जल कहाँ से आ गया भ्रांति से जल दिखता है जल वास्तव नहीं है संसार भी वास्तव नहीं है भ्रांति से दिखता है दिखता है ब्रह्म में ही दिखता है संसार वास्तव नहीं होने पर भी दिखता है ये क्या संभव है जो वास्तव नहीं हो तो भी दिखता है सपन प्रपंच वास्तव नहीं दिखता है राज्य में सर्प वास्तव नहीं भ्रांति काल में दिखता है तो संसार इसे दिखता है वास्तव नहीं है जैसे मरुभूमि में जल तो माया से परिमोहित आत्मा स्वरूप यश्य स्वरूप माया से परिमोहित हो गया माया है अविद्या जिसमें आवरण विक्षेप है आवृत हो गया आवरण होने से भ्रांति से सर्पादि दिखता है जैसे रज्जु में इसी प्रकार स्वरूप में ही संसार दिखता है भ्रांति से और वही भ्रांति से शरीरम आस्थाय करोति सर्वम फिर शरीर को प्राप्त करके शरीर के साथ संबंध करके शरीर के साथ ही अहम अमय से बुद्धि करके सर्वम करोति जो कुछ करता है सब कुछ करता है माया से ही शरीर के साथ तादात्म अध्यास को प्राप्त करके सब कुछ करता है अन्न अन्नपाना आदि विचित्र भोगी सैव जागृत परितृप्ति में थी स्त्री अन्नपाना आदि आदि विचित्र भोग से जागृत अवस्था में तृप्ति को प्राप्त करता है परितृप्ति में थी सुख को प्राप्त करता है दुख भी प्राप्त करता है और ज्ञान से माया से सैव तो असंग उदासीन एव न तो अन्य सैव माया परिमोहित आत्मा स एव जो परमात्मा वही है स एव जो असंग उदासीन आत्मा वही माया परिमोहित आत्मा उससे भिन्न कोई है नहीं जैसे पहले कहा था ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है संसार अवस्था में ब्रह्म से भिन्न है संसार काल में भी नहीं है स एव माया परिमोहित आत्मा अन्य कोई है ही नहीं माया परिमोहित आत्मा माया है अविद्या माया अविद्या एक है त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वही माया अविद्या उसको कहीं अव्यक्त कोई कूटस्थ भी कह देते अक्षर भी कह देते हैं ज्ञान के बिना नष्ट नहीं होने से अक्षर कह दिया विभिन्न शब्द से कहा जा कही जाती माया कहीं कहीं माया अविद्या के भेद बताते हैं सत्व प्रधान शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को माया मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या ऐसा भी बताते हैं पंचदशी में उपाधि भेद बताने के लिए विक्षेप प्रधान है माया आवरण है अविद्या इसलिए विक्षेप रूप को माया शब्द से आवरण को अविद्या रूप से ऐसा भी कहते हैं प्रकृति एक ही त्रिगुणात्मिका है सत्वरजस तम तीनों गुण तो तीनों गुण में कहीं रज गुण अधिक कहीं सत्व गुण अधिक कहीं तम गुण अधिक गुण में न्यूनाधिक होने पर भी जो समूह प्रकृति एक है उसको माया कहते अविद्या कहते हैं जीव ईश्वर में व्यावहारिक भेद बताने के लिए माया उपाधि का चैतन्य ईश्वर अविद्या उपाधि का चैतन्य को जीव ऐसे कहते हैं और माया अविद्या के मानेंगे तो जीव ईश्वर में व्यावहारिक भेद कैसे होगा तो हा अंतकण उपहित चैतन्य को जीव कहेंगे माया विशिष्ट को ईश्वर अंतकण विशिष्ट है जीव तो इसे भेद व्यावहारिक भेद माया अविद्या का कार्य है अंतकरण भेद नहीं है तो भी व्यावहारिक भेद और उपाधि को छोड़ देंगे एक ही चेतन सर्वत्र है तो ही माया परिमोहित आत्मा माया अविद्या आवरण विक्षेप करी शक्ति माया है शक्ति इस पर ब्रह्म की शक्ति है शुद्ध परब्रह्म निर्विशेष असंग है निराकार है उसमें शक्ति नहीं हो तो जगत कैसे दिखे जगत की उत्पत्ति कैसे होगी वास्तव जगत नहीं ठीक मान लेते तो दिखता तो है जो दिखता है वो कैसे कहाँ से कैसे दिखाए कौन दिखाएगा कैसे दिखते दिखता है तो मानना पड़ता है ब्रह्म में से शक्ति है वो शक्ति क्या करती स्वरूप को ढाक देती और विपरीत तो दिखा दी है इसलिए कहा आवरण विक्षेप करी आवरण ढकने वाला शक्ति है ब्रह्म स्वरूप को ढक करके उसमें संसार दिखाती है शुद्ध ब्रह्म सत आनंद रूप ब्रह्म उसको ढा करके उसमें संसार दुख जन्म मरण जरा व्याधि सब दिखाती है तो आवरण विक्षेप कराने वाली शक्ति है माया व विद्या है तया परिमोहित आत्मा परिमोहित आत्मा है आत्मा है स्वरूप है स्वयं प्रकाश है अपना जो स्वरूप स्वयं प्रकाश वही परिमोहित जो माया परिमोहित स्वरूप स्वयं प्रकाश आनंद आत्मा स्वस्वरूप माया से जो परिमोहित है बहुबरी करना जरूरत है माया परिमोहित परिमोहित सो आत्मा च परिमोहित आत्मा जो आत्मा माया से परिमोहित है स्वरूप है स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें इसे अपना स्वरूप जिसका स्वरूप इसे कह देते हैं किंतु वही स्वरूप स्वयं है उसका स्वरूप से कोई भिन्न नहीं है जो आत्मा स्वरूप स्वयं प्रकाश आनंद रूप है माया से परिमोहित अज्ञान के कारण स्वरूप आच्छादित है और आच्छादित आवृत होने से उसमें संसार दिखता है स माया परिमोहित आत्मा शरीरम आस्थाय शरीर को शरीर में स्थित होकर के तादात्म अध्यास को प्राप्त करके आस्थाय अर्थ करेंगे शरीर क्या है कितने प्रकार शरीर है स्थूलादि भेद भिन्नम स्थूलादि भेद न भिन्नम शरीरम स्थूल शरीर अन्नमय कोश सूक्ष्म शरीर में प्राणमय मनमय विज्ञानमय तीनों कोश है सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत भूत से आरंभ होता है सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर तो पंचीकृत भूत का कार्य इसलिए प्रत्यक्ष दिखता है पंचीकरण के पहले जो भूत है सूक्ष्म अपंचीकृत वह प्रत्यक्ष दिखता नहीं है इसलिए अपंचीकृत भूत का जो कार्य है अंतकरण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण ये सब अपंचीकृत भूत का कार्य होने से प्रत्यक्ष दिखते नहीं है ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यक्ष दिखती है नहीं ज्ञानेन्द्रिय कितने हैं क्या क्या है श्रोत्र त्वक दिखते नहीं श्रोत्र दिखते नहीं श्रोत्र दिखते नहीं चक्षु जो दिखता है कान आंख है ये स्थान है इंद्रिय का इंद्रिय नहीं दिखती इंद्रिय सूक्ष्म है स्थान है गोलोक कहते हैं जो दूसरे का आंख कान आप देखते हैं नाक तो नाक घ्राण इंद्र नहीं नाक में घ्राण इंद्रिय है नाक के अंदर कान भी श्रोत्र इंद्रिय नहीं कान तो ये इंद्र का श्रोत्र इंद्रिय का स्थान है अंदर श्रवण इंद्रिय है इंद्रिय अंतकण आदि अपंचीकृत भूत का कार्य होने से प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होता इसलिए इंद्रिय को अतिद्रिय कहते हैं इंद्रियम अतिद्रियम अतिद्रिय का अर्थ तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इंद्रिय का ग्रहण इंद्रिय से नहीं होता है दूसरे इंद्र का ग्रहण नहीं होता है अपना इंद्र का इंद्र प्रत्यक्ष गृहित नहीं होता है ग्रहण का तो प्रत्यक्ष नहीं होता है ज्ञान तो इंद्र का होगा नहीं तो इंद्र है करके कैसे प्रयोग करेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं दिखता तो इंद्र का ज्ञान कैसे होगा प्रत्यक्ष जिसका नहीं होता है उसका ज्ञान हो सकता है प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है तो भी ज्ञान होता है क्या कैसे ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान कैसे होगा अनुमान से हो सकता है शब्द से हो सकता है शब्द से तो होता है अनुमान से भी रूप दर्शन होता है आप रूप दर्शन होता है तो उसका कर्ण कोई है जितने क्रिया है सबका कर्ण कुठार से छेदन करते काष्ठ छिदी क्रिया है तो उसका कर्ण अवश्य है कुठार रूप दर्शन रूप ज्ञान रूप दर्शन के क्रिया है उसका कर्ण कोई होना चाहिए गंध दर्श ग्रहण होता है तो उसका कर्ण होगा ये सब प्रमाण रूप दर्शनम सकर्णम क्रियात्वात छिदाद क्रियावत ऐसा अनुमान करेंगे ये छेदन क्रिया का कर्ण है कुठार रूप दर्शन क्रिया का भी कर्ण कोई होगा जो कर्ण है उसको चक्षु कहते चक्षुरेन्द्रियम और जो दिखता है शरीर के अवयव उसका स्थान है तो सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत भूत का कार्य प्रत्यक्ष दिखता नहीं और ये स्थूल सूक्ष्म कार्य है तो कारण भी कोई होना चाहिए कारण के बिना कार्य नहीं होता है जितने बुद्धिमान हो कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है हो जाएगा कारण के बिना कार्य कारण के बिना कार्य नहीं होगा तो उसका कारण शरीर चाहिए कारण है अज्ञान सुश्रुति अवस्था में सूक्ष्म शरीर है है सूक्ष्म शरीर सुश्रुति अवस्था में स्थूल शरीर है स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है कारण शरीर है स्थूल शरीर का भान स्वप्न अवस्था में भी नहीं होता है स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर से अलग हो जाता है सूक्ष्म शरीर में स्वप्न दर्शन होता है सुसुप्त अवस्था में सूक्ष्म सर भी अपंचीकृत भूत जितने कारण है कारण में सब लीन हो जाते अज्ञान में स्थूल सूक्ष्म सर दोनों का अभाव हो जाता है सुसुप्त अवस्था में कारण सर रहता है कारण सर अज्ञान है अज्ञान कारण रहने से अज्ञान में सब अंतकरण लीन हो जाते हैं सुश्रुति अवस्था में प्रलय काल में भी ठीक इस प्रकार प्रलय काल में भी अज्ञान रहता है सबके सूक्ष्म सर अज्ञान में लीन हो जाएंगे प्रलय के बाद जो फिर सृष्टि होगी सब अपने अपने संपत्ति लेकर आएंगे क्या संपत्ति लेकर आते हैं पुण्य पाप कर्म सब वासना भी रहे अदृष्ट अपने पुण्य पाप उसको कोई नहीं लेगा उसके लिए कोई चोर नहीं ग्रहण करेगा पुण्य भी नहीं ले सकता है पाप तो कोई लेना नहीं चाहेगा पुण्य भी कोई नहीं ले सकता उसके लिए निश्चिंत है भय करने का नहीं बाकी अन्य धन संपत्ति के लिए चोर भय है पुण्य पाप रूप जो संपत्ति है उसके लिए कोई भय नहीं कहाँ रखना अधिक हो गया तो खराब हो जाएगा सड़ जाएगा कीड़े पे पड़ेंगे ये कोई भावना नहीं जितना हो उसको कहाँ रखना कहाँ उसकी चिंता नहीं करना रखने वाले रखेंगे समय पर फल देंगे वो जो संपत्ति इकट्ठी करने की इच्छा होती है वो संपत्ति अक्षय संपत्ति उसका क्षय नहीं होता है अग्नि से ना जलेगी ना चोर लेना ना उसके ऊपर कोई सरकार टैक्स लगाएंगे कोई भय नहीं है वही संपत्ति है वास्तव संपत्ति है जो समय पर साथ देने वाली है और कोई संपत्ति साथ देने वाली नहीं है ये पुण्य पाप को लेकर आएगा इसी प्रकार सुश्रुति अवस्था में सो गया जगने के बाद जो सोया था पहले वही जगेगा या दूसरे जगेगा वही आता है उसको याद रहता है मैं कल क्या क्या था अभी क्या करूँगा कल कितने पढ़ा था रटा था अभी क्या रटा आगे रटूंगा याद रहता है नहीं पूरा वही जगता है और जब आता है अपने संस्कार को लेकर के पुण्य पाप तो साथ में रहेंगे उसको कोई छोड़ नहीं सकता है संस्कार भी रहते साथ में इसे संस्कार से स्मरण होता है नहीं तो उस, उसको ये उठने के बाद वो पूछना चाहिए दूसरे से मैं कौन कहाँ से आया पूछता है उठने के बाद बिल्कुल उसको मालूम है अपने नाम सब मालूम है पूरा संस्कार साथ में रहता है स्मरण रहता है और किसी ने कुछ कहा था तो ये भी सुबह उठते उठते याद करता उसने मुझे कल ऐसे कहा वो तो पहले याद होता है भगवान का नाम पीछे याद होगा पहले किसने कुछ कहा वो याद होता है संस्कार हो तो सुसुप्त अवस्था में कारण सर्व ज्ञान रहता है कुछ लोग ऐसे कारण से अज्ञान नहीं रहता है सुश्रुति अवस्था अवस्था में इसे कहना चाहते हैं अज्ञान माया से मोहित होकर के इतने मोहित है बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी उसे मोहित होकर के अपने स्वरूप प्राप्ति की अपेक्षा सोचते हैं कि हमारा नाम रहे बड़े बड़े महापुरुष ने ग्रंथ लिखा है तो हम भी कुछ लिखेंगे हमारे भी नाम रहे इधर नाम रूप मिथ्या कहते कहते थक गए फिर हमारा नाम रहे तो उसके लिए कुछ ग्रंथ पुस्तक लिखे कुछ नया लिखे और जो लिखा गया उसको लिखेंगे तो फिर सब कहेंगे तो पहले हमको मालूम है कुछ लिखे तो ऐसे करते करते क्या कुछ कोई कुछ कह देते कोई कुछ कहते अभी भी कोई कोई कुछ ना कुछ लिखते हैं कुछ ना कुछ लेकर के जैसे शास्त्र में कहा गया कहते हमारे गुरु जी ने शास्त्र का सार निकाल कर पुस्तक लिखा और जो भाष्य में कहा गया कहीं भाष्य में जो कहा गया उसमें कहीं व्याख्या करने वाले ठीक व्याख्या नहीं करते हम हमने व्याख्या ठीक की कोई कोई कहते ना भाष्य में जो कहा गया वो ठीक नहीं उसमें भी कुछ गलती निकालें तो कितने बड़े विद्वान है सब लोग तो सोचे ना कोई कोई इतने कहते थे आगे बढ़ते बढ़ते भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी कहने लगे भगवान श्री कृष्ण भी जो कहते हैं उनके वाक्य में विरोध दिखाना चाहते हैं तो बहुत बड़े विचारक माना जाएंगे ना सब लोग सोचेंगे कितने बड़े विद्वान गीता वाक्य में भी विरोध दिखाते हैं लोकेश द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योग अलग कर्म योग अलग सांख्य और, और कर्म अलग है ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योगन योगे नाम और एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति सांख्य योग को जो एक मानता है वो ठीक जानता है एकत्र कहते दो अलग अलग है वही भगवान कहते दोनों को एक जो मानता है वो ठीक जानता है भिन्न भिन्न मानता है तो वो नहीं न पंडित पृथक वाला न पसंती न पंडित सांख्य योग पृथक वाला पश्यंति न पंडित सांख्य योग अविवेक लोग भिन्न मानता है तो भगवान कहते करें उनके वाक्य में विरोध दिखाना चाहते हैं और मस्थानी सर्वभूतानी आगे एक फिर कहते मस्थानी भूतानी पश्चिम योग मिश्रम भगवान स्वयं विरोध कहते ये दिखाना चाहते दुस्साहस करते हैं यही कारण है माया से मोहित होकर के स्वरूप का ज्ञान नहीं और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न कर रहा था वो लक्ष्य को छोड़ करके देह में अहम बुद्धि के कारण देह में अहम बुद्धि तो नाम में मम तो बुद्धि मेरा नाम रहे हमारे विशेष हमारी विशेष पूजा हो हम कुछ विशेष सब को लगे सब के सामने ऐसे कहना चाहते ये दुस्साहस कहते हैं इसी प्रकार दुस्साहस करने वाले कोई कोई अज्ञान का निराकरण करते सुश्रित अवस्था में अज्ञान नहीं है संस्कृत में लिखेंगे बड़े उनके पीछे बहुत लोग चलेंगे बड़े विद्वान हो जाएंगे धन संपत्ति बहुत हो जाएंगे घर घर में उनके पटों की पूजा हो जाएगी तो ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष हो जाएगा तो जो कहेंगे ठीक है ना बहुत लोग जो इनको मानते हैं वो जो कहते ठीक है ना नहीं ऐसा मानेंगे तो विरोचना वाक्य भी प्रमाण हो जाएगा सारे अवसर उनको मानते हैं गुरु देह ही आत्मा कहेंगे और कोई है नहीं देह से बिना आत्मा नहीं इसलिए वो बहुत लोग मानने से मतलब नहीं है लोग ऐसे कभी कभी कोई कहेंगे कभी सुनाई पड़ेगा सुश्रुति में ज्ञान नहीं रहता है वो अप्रमाण है कारण के बिना कार्य कैसे होगा अज्ञान नहीं रहेगा तो मुक्त हो गया और जगेगा ही नहीं यदि सो गया सुश्रुति अवस्था में अज्ञान नहीं रहा कारण नहीं रहा फिर सूक्ष्म सर स्थूल सर जागृत अवस्था में कैसे आएगा मुक्ति हो जाएगी इसलिए कारण शरीर सुश्रुति अवस्था में अज्ञान रहता है प्रामाणिक है सर्वत्र है किंतु ऐसे कुछ लोग को कहेंगे कहते सुनाई पड़ेगा उसमें अपने सिद्धांत को छोड़ करके उनकी मत को सुनना नहीं ग्रहण करने का प्रश्न नहीं कुछ नहीं उद्देश्य उनका कुछ अच्छा नहीं है ऐसे बहुत लोग कली काल में भ्रामक कली के दूत रूप से आकर के शास्त्र के सिद्धांत को शास्त्र को स्पष्टीकरण नहीं स्पष्ट को अस्पष्ट करेंगे कुछ कुछ लोग स्पष्ट का उच्चारण जो करेंगे ना स्पष्ट कहेंगे वो अ जोड़कर कहते स्पष्ट नहीं कह पाएंगे अस्पष्ट कहते हैं <laughs> अस्पष्ट नहीं एक तो ट भी आ जाता है कहीं अस्पष्ट इसी प्रकार स्पष्ट नहीं करके अस्पष्ट करने वाले बहुत कली के दूत आएंगे इनसे सावधान रहना चाहिए कारण शरीर है अज्ञान सश्रुति अवस्था में रहता है उसमें सब संस्कार प्रलय काल में भी रहता है प्रकृति में लय होता है सब फिर प्रकृति अज्ञान से उत्पन्न होता है तो ये शरीर कारण शरीर अज्ञान होने से एक ही अज्ञान है तो भी उसमें अलग अलग सब का अंतकरण के भेद से भिन्न मानते हैं और एक ही व्यष्टि समष्टि भेद से अज्ञान व्यष्टि अभिमानी का नाम अभिमान करने वाले चेतन व्यष्टि अभिमानी कारण सर अभिमानी का नाम क्या है और सूक्ष्म सर अभिमानी का नाम तेजस प्राज्ञ तेजस विश्व विश्व तेजस प्राज्ञ उधर समष्टि अभिमानी है विराट वैसा न रहे गर्भ ईश्वर कारण उपाधि का तो ये थूलादि भेद भिन्नम शरीरम आस्थाय वो शरीर क्या है मनुष्य आदि कलेवर मनुष्य आदि शरीरम आस्थाय आस्थाय क्या उसमें स्थित करके आस्था करके आस्था कैसे अह मनुष्य अभिमान न आ समन्तात स्वीकृत्य आस्थाय स्था धातु आंग पूर्वक स्थित्वा समन्तात स्थित्वा आ का समन्ता अच्छी तरफ से अह मनुष्य इत अभिमान है न ये शरीर जिस शरीर को जब जाएगा वो सब उसको मानेगा मैं हूँ जो अभी मनुष्य अपने को मनुष्य मानता है उसके पहले जब जिस योनि में था उस समय वही मानता था उस समय मनुष्य नहीं मानता था कभी देवता मानता था कभी गधा मानता था अपने को अभी मनुष्य मानता है जो अभी मनुष्य है कभी देवता था या नहीं कभी नरक गया था नहीं कभी गधा खचर कुत्ते बिल्ली बना था नहीं सब कोई नहीं उसमें कोई संकोच करने का नहीं कुछ हम कैसे होंगे क्यों होंगे नहीं कितने बार हुआ है और कोई कर्म करेगा तो आगे भी बन जाएगा क्या नहीं बन सकता सब कुछ है तो जिस शरीर में जिस समय रहता है उसमें अहम बुद्धि हो जाती है अज्ञान के कारण अहम इत अभिमान अहम मनुष्य तो अभिमान है ना अभिमान इतने दृढ़ है वो नहीं जाता है सब समझने के बाद भी आ समता स्वीकृत्य बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय करके मैं मनुष्य हूँ स्वीकार करके करोति सर्वम सोचना नहीं पड़ता मैं मनुष्य हूँ कहना नहीं पड़ता दृढ़ निश्चय है तुम मनुष्य नहीं हो तुम सर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से भिन्न ये सब सुनते सुनते भी बहुत सुनते हैं तो भी मैं मनुष्य ये बुद्धि नहीं जाती है इतने दृढ़ है यही है आस्थाय समानता स्वीकृति बुद्धि दृढ़ अभिमान से मान करके उसमें कोई संशय नहीं है अज्ञानी कभी संशय करता है मैं मनुष्य हूँ या नहीं हूँ देह में अहम बुद्धि अति दृढ़ है देहात्म ज्ञान व जिज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनिव भवे स सन्निच्छन अभी मुच्यते अपरोक्ष ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान कैसे होना चाहिए कोई कोई पूछते हैं कैसे पता चलेगा ब्रह्म ज्ञान हमको अपरोक्ष हुआ करके हमको तो समझ आता है मैं ब्रह्म तो समझ आ गया ये अपरोक्ष हुआ कैसे पता चलेगा परोक्ष है अपरोक्ष कैसे पता चलेगा कोई परोक्ष को अपरोक्ष मान लेते और अपरोक्ष क्या होगा जो ज्ञान हुआ वही तो है क्योंकि आत्मा का कभी परोक्ष नहीं होता यह साक्षात अपरिचात ब्रह्म अपरिचय होता जो ज्ञान हुआ वही अपरिचय है ऐसा भी कुछ कह देते हैं आचार्य रूप से बैठ कर कोई इसे बता दिया लोग भी मान लेते हमको समझ में आ गया तत्व तो में स्वीकार तो और वही अपरिचय होता है किंतु संशय होता है डर लगता है अपरक्ष ज्ञान हुआ करके तो अब कैसे पता चला अपरक्ष ज्ञान करे कैसे अपरक्ष परोक्ष ज्ञान कैसे निश्चय होगा ये अपरोक्ष ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि से ज्ञान अपरोक्ष शब्द से तो परोक्ष होता है फिर संशय विपर रहित ज्ञान इसलिए कहा गया है ज्ञान ऐसे होना चाहिए देहात्म ज्ञानवज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम अज्ञानी को जैसे देह में आत्मबुद्धि है मैं मनुष्य बुद्धि है देह में आत्मबुद्धि अज्ञानी की है तो मैं मनुष्य मानता है जैसे उसका ज्ञान जितने दृढ़ है ऐसे ही ज्ञान हो मैं देह नहीं हूँ देह से भिन्न व्यापक आत्मा हूँ देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनि एव दृश्य ऐसा ज्ञान जिसको हो जाए आत्मा में ही अभी भी जो ज्ञान होता है आत्मा भी है अनात्मा भी है सब मिला करके है मैं मनुष्य कहते समय मैं जीव मनुष्य ऐसे कहते समय अधिष्ठान चैतन्य तो है और शरीर भी है चिदाभास है किंतु आत्मनि एव यश्य भवित आत्मा में ही बुद्धि अहम ऐसी बुद्धि आत्मनि एव आत्म भिन्न अनात्मा में नहीं ऐसे देहा में आत्मबुद्धि अज्ञानी की जैसे जितने दृढ़ है इतने दृढ़ में देहादि नहीं हूँ आत्मा हूँ ऐसे दृढ़ हो जाए तो समझना अपरिचय है अभी बढ़ते समय बीच बीच में सोचना पड़ता है मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ सोचना पड़ता है नहीं सोचेगी याद नहीं करेंगे तो भूल जाएगी भूल जाता है कभी सोते समय याद करता है मैं मनुष्य हूँ तब सो नहीं तो सुबह उठने पर पता नहीं चलेगा चिंता है उसके लिए विस्मरण हो जाएगा कह रहे करके बिल्कुल कुछ करेंगे तो मैं मनुष्य बुद्धि नष्ट हो जाएगी ऐसा डर लगता है नहीं इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान ऐसे दृढ़ हो जाए कि देहादि नहीं हूँ ब्रह्म हूँ ऐसे निश्चय होने के बाद फिर ज्ञान नष्ट हो जाएगा भय रहेगा बुद्धि नष्ट हो जाएगी मैं ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये बुद्धि रही क्या नष्ट हो जाएगी इसे भय होगा अभी भय लगता है ना कभी कभी मनुष्य मैं मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि रही क्या नहीं रहेगी कहीं बहुत लोग जहाँ वहाँ गए मेला में कुंभ यात्रा में जाए कुंभ मेला में जाएंगे बाजार में जाते हैं तो मैं मनुष्य ही बुद्धि रही क्या नहीं रहेगी क्या करेंगे हाथ में लेकर रखो मैं मनुष्य हूँ ऐसे देख बीच बीच में देखना है ऐसे करना पड़ता है या मैं कौन मेरे नाम क्या है कहाँ से आया याद करने के लिए कुछ करना प्रमाण रखना चाहिए भय लगता है कभी नहीं इसी प्रकार ज्ञान जो हो जाए भय नहीं कोई कुछ करके ज्ञान को नष्ट कर देगा कोई कुछ नहीं कर सकता है ऐसे ज्ञान जिसका हो जाए सन्नेच्छा भी विमुच्य दे इच्छा नहीं करे मुक्ति की इच्छा नहीं करे तो मुक्त होगा ज्ञान जिसको हो जाता है वो मुक्ति की इच्छा करता है बंधन की इच्छा करता है बताओ भोग इच्छा करे या वो इच्छा नहीं करता अज्ञान अवस्था में भी मुक्ति की इच्छा ज्ञान हो गया तो स्वयं मुक्त है मुक्ति की इच्छा क्या करेगा बद्ध है तो मुक्ति की इच्छा करेगा जो मुक्त है वो क्यों मुक्ति की इच्छा करेगा मुक्त है स्वयं और मुक्ति की क्या इच्छा करेगा मुक्ति है ये तो मुक्त है तो ये से ज्ञान देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मनिव भवेदस्य स न भी इच्छा नहीं करने पर भी मुक्त हो जाएगा इसी प्रकार ज्ञान है जब तक नहीं तब तक देहादि में हम बुद्धि करके सब कुछ करता है करोति सर्वम निखिलम व्यापार जातम कृति सारे व्यापार सब कुछ करता है स्त्रिया अन्नपान आदि विचित्र हो गई स्त्रिय मनो अनुकूला युवत मन के लिए अनुकूल युवती जिस जाति में मनुष्य हो पशु हो उसी जाति में स्त्री उसको अच्छा लगेगा स्त्री को पुरुष भी अच्छा लगेगा उसी जाति का कुत्ता दुर्गंध है कुत्ते भी दुर्गंध है उसके पीछे भागता है गधा के लिए गधिनी अच्छा दिखती है जो चीज पर पशु पक्षी में है वही उसको अच्छा दिखता है अन्य नहीं है मनो अनुकूला ये बताइए अन्न पाने मनो अनुकूल जो मन के लिए अनुकूल अन्न और पान है स्त्री अन्न पाना आदि विचित्र भोग आदि दिया है आदि शब्द ने वसन वसन आच्छादन आदि नहीं मनो अनुकूल मन के अनुकूल वस्त्र आच्छादन आदि जो घर आदि सब हुए ते अन्न पानादि भी विचित्र ही भोग बहुत विचित्र विलक्षण भोग से स्त्रिय छांदसम अन्न पानादि होना चाहिए स्त्री एक य आ गया स्त्रिया स्त्रिया अन्न पानादि कहें कि अन्न य है आ दीर्घ नहीं है तो स्त्रिया अन्नपानादि जो दिया यह विषय में आ गया स्त्रिया ये से प्रयोग ही सैव माया परिमूढ़ एव विचित्र भोगे सैव जागृत परितृप्ति में थी वही जागृत अवस्था में तृप्ति को प्राप्त करता है वही जो परमात्मा है असंग उदासीन जिसको कहा गया माया परिमोहित आत्मा सैव सैव कह करे पहले ही सैव कहा था बांतमी सैव कहते वही है जो असंग उदासीन है वही माया परिमोहित आत्मा है वही भोग कर करता है जागृत परितृप्त में वही संसारी होता है अज्ञान के कारण अन्य कोई नहीं है सैव माया परिमूढ़ जो माया से परिमोहित हुआ वही माया परिमूढ़ न तो अन्य अन्य कोई नहीं है जो असंग उदासीन वही माया परिमोहित हुआ और जो माया से परिमूढ़ है वही जागृत काल में भोग करता है जागृत जागरणम इंद्रिय बाह्य विषय उपलब्धि रूपम ये जागृत का लक्षण बीच में दे दिया इंद्रिय बाह्य विषय उपलब्धि रूपम जागरणम इंद्रिय से बाह्य विषय का ज्ञान होता है तो जागरण है स्वप्नावस्था में इंद्रिय के द्वारा बाह्य विषय का ज्ञान होता है नहीं है? सपन देखते समय आंख बंद कर देखते हो क्या आंख से देखते है ना नहीं नहीं उस तो समय जो आंख है वो मिथ्या है कल्पित है शरीर भी कल्पित आंख भी कल्पित और विषय भी कल्पित बाह्यत्व भी कल्पित आपके शरीर के अंदर अंदर सब कुछ वासनामय है उस समय क्या लगता है देह के बाहर या शरीर के अंदर लगता है कमरा के अंदर नहीं कमरा के बाहर पहाड़ में चढ़ रहे पैर पिस लगे गिर पड़ते उस समय कमरा के अंदर लगता है पहाड़ में चढ़ा हुआ तो सब जो बाह्यत्व भी कल्पित है शरीर इंद्रिय विषय सब कुछ कल्पित है ये सब कुछ कुछ नहीं होने पर दिखता है किंतु जागृत काल में इंद्रिय के द्वारा बाह्य जिसे उपलब्ध होता है स्वप्न काल में ऐसे लगता है ये इंद्रिय स्वप्न काल में काम नहीं करती व्यापार से उपरत हो जाती है वो अंतकरण बीच में अंदर स्वप्न दिखता है किंतु लगता है बाहर बाह्यत्व भी कल्पित है इंद्रिय शरीर आदि जो उस समय लगता है शरीर एक बनता है कल्पित तो इंद्रिय विषय उपलब्धि बाह्य विषय उपलब्धि रूप जागरण करता हुआ परितृप्ति में थी परित तृप्ति को प्राप्त करता है परित सम सर्वत विषय सुख जान तृप्ति में थी वही परितृप्ति है विषय सुख जन तृप्ति को प्राप्त करता है स्वरूप सुख नहीं विषय सुख विषय ग्रहण से जो सुख विषय ग्रहण करने से विषय प्राप्ति की इच्छा है विषय ग्रहण होने पर अंतकण में एक सुखाकार वृत्ति होती है अंतकण में चांचल्य रहता है तो सुख रूप आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता है जब महिला भी हो पानी में जैसे नील है कोई तालाब में पानी में ऊपर काई नील है प्रतिम्ब नहीं दिखेगा नील को हटा दे तो दिखेगा किंतु जल हिलता है वायु से चंकंपन है तो भी प्रतिम्ब साफ नहीं होता है नील भी हट जाए और चांचल नहीं स्थिर हो जाए तो जल में प्रतिम्ब दिखता है दिखता है साफ दिखेगा इसी प्रकार अंतकरण में जो तमोगुण है आवरण तम गुण है वो कम हो जाए रजगुण से चांचल्य वासना उस हट जाए सप्तगुण से स्वच्छ होने पर सुख रूप आत्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखता है विषय प्राप्त करने पर वो चांचल्य समाप्त हो जाता है विषय की इच्छा हो तो अंतकरण में चांचल्य विषय मिल गया तो थोड़े समय के लिए अंतकरण शांत हो गया मान लेता है मैं बड़े बहुत सुखी हूँ बहुत मैं धन्य हूँ सब मिल गया मुझे जो चाहता था प्राप्त हो गया खुश हो जाता है शांत हो गया थोड़ी देर के अंतकरण जैसे बच्चा रोते हुए उसको खिलौना डाल दिया और थोड़ी देर रोना बंद कर देता है उसको लगता है कि वो बहुत कुछ मिल गया जो रोह रहा था उसका साधन मिल गया कि लेकर मुख में लगा देता है कुछ नहीं होता फिर फेंकता है नहीं तो पहले देखकर बड़ा खुश हो जाता है कुछ मिल गया इसी प्रकार ये जीव कुछ मिल गया अपने को इतने बड़ा मान लेता है इतने सुख खुशी हो जाता है तो अंतकोण थोड़ी शांत हो गया उसमें सुख रूप आत्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब हुआ वो प्रतिबिंब होने से अंतकरण वृत्ति को सुख कह देते वो सुख नहीं है सुख का प्रतिबिंब सुखाभास वास्तव सुख तो स्वरूप है वो पहले था क्या वो हमेशा है उसको नहीं जान करके प्रतिबिंब को सुख मान करके खुश होता है लड्डू है इधर नहीं खा करके उसके दर्पण में प्रतिम्ब दे करके उसको चाटना चाहता है किसी में कहा दर्पण में मीठा लगे करके इसी प्रकार स्वरूप सुख आनंद स्वयं है और विषय प्राप्त होने पर अंतकण में प्रतिबिंब थोड़ा हो गया वो सुख से अपने को बड़ा सुखी मानता है ये तृप्ति है विषयजन्य सुखों को प्राप्त करता है विषय से केवल सुख प्राप्त होता है दुख भी मिलता है दोनों है सुख दुख सुखम दुखम च प्राप्त परितृप्ति में थी क्या तृप्ति होता है जितने समय सुख प्राप्त करता है उससे ज़्यादा समय दुखी होता है संसार में लोग सुखी होते हैं ना दुखी तो नहीं होते हैं जो अन्य लोग को देखते समझते तो बड़े सुखी होंगे इनके पास इतने धन संपत्ति है बड़े सुखी होंगे वो जानते कितने सुखी सब कुछ होने पर भी इतने रोते हैं कारण कुछ नहीं सामान्य कुछ है उसमें भी दुखी है बड़े बहुत दुखी है संसार में अन्य लोग को पता नहीं चलेगा कितने दुखी कौन है जितने समय सुखी होते उसे ज़्यादा समय दुखी होते हैं कोई विचार करके देखे लोग देखते कहते सब लोग विचार कर देखते हैं विचार नहीं करने पर थोड़े सुख मिला उसमें इतने हो जाते हैं दुख भोगने पर भी लात खाने पर भी फिर वही चलते हैं उसके पीछे भागते संसार के पीछे रोते हैं फिर थोड़े थोड़ी देर बड़े दुखी होकर रोते हैं दो दो घड़ी के बाद फिर बाद में अपने कुछ हम कुछ आगे चलते हैं तो दुख सुख मिलता है विचार करके देखे तो सुख के अपेक्षा दुख बहुत ही अत्यधिक दुख है संसार को दुखा रही इसलिए कहा और बीच बीच जो सुख मिलता है तार्किक लोग तो विचार कर कहते ये सुख भी दुख है थोड़े थोड़े सुख जो मिलता है और सुख मिलने पर फिर सुख की इच्छा होती है और इच्छा ही दुख देने वाली है अब विषय सुख वास्तव सुख है क्या सुखाभास झूठे प्रतिबिंब को सुख मानता है वो कहाँ सुख होगा ये सब सुख दुख जितने हैं उसको भोग करने की इच्छा है ये शरीर साधन है ये सब कुछ दुख ही है इसलिए कहते एक विंशति दुख में तार्किक लोग सुख को भी रखा दुख तो है सुख भी है इसलिए परितृप्ति में तो सुख दुख प्राप्त करता है इदानीम स्वप्न सुसुप्त और विक्षेप तद अभाव कथन न संसार मुख्य अर्थात दृष्टान्त आह स्वप्न सुषुप्ति और विक्षेप तद अभाव कथन न सुषुप्ति अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं होता है विशेष ग्रहण जैसे रज्जु का अग्रहण ज्ञान नहीं हुआ ये अग्रहण है आवरण अरे विक्षेप क्या होता है सर्प दिखना अग्रहण है विक्षेप का कारण आवरण है विक्षेप का कारण विक्षेप को अन्यथा ग्रहण कहते अन्यथा मतलब अन्य प्रकार ज्ञान ग्रहण है ज्ञान आवरण और विक्षेप स्वरूप का रज्जु सर्प का आवरण होने से सर्प का ज्ञान होता है सर्प दिखता है इसी प्रकार अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप शुद्ध स्वरूप है अज्ञान आवरण से आच्छादित तो हो गया आच्छादित तो होने से उसमें विपरीत ग्रहण होता है विक्षेप होता है आवरण विक्षेप में से सुश्रुति अवस्था में आवरण है सुश्रुति अवस्था में आवरण है विक्षेप स्वप्न अवस्था में आवरण है आवरण है विक्षेप है जागृत अवस्था में भी आवरण तो है विक्षेप है तो विक्षेप कितने अवस्था में है दो में जागृत स्वप्न दोनों में विक्षेप है आवरण है हाँ सुसुप्ति में केवल आवरण है आवरण स्वरूप का ज्ञान नहीं है किंतु विशेष ग्रहण जो विपरीत ज्ञान जितने विशेष ज्ञान होता है जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में भी विशेष ज्ञान होता है वो विशेष ज्ञान का अभाव हो गया तो सुसुप्ति है विशेष ग्रहण विशेष ग्रहण नहीं हो विशेष ज्ञान नहीं तो सुसुप्ति है सुसुप्ति अवस्था में विक्षेप है स्वप्न अवस्था में विक्षेप है इधानी स्वप्न सुश्रुति और विक्षेप तद अभाव कथन है ना स्वप्न में विक्षेप है और सुश्रुति में तद अभाव विक्षेप अभाव सपना में विक्षेपण है या नहीं जागृत में स्वप्न में विक्षेप है सुश्रुति में विक्षेप का अभाव आभरण किस में है तीन है सपन जागृत सुश्रुति तीनों में है संसार मुख्य और अर्थात दृष्टान्त महा संसार मुख्य का दृष्टान्त अर्थ महा दृष्टान्त देते हैं संसार अवस्था में अज्ञान है आवरण विक्षेप है मोक्ष अवस्था में आवरण है विक्षेप है कुछ नहीं सुश्रुति अवस्था में आवरण है तो सुश्रुति अवस्था और मोक्ष अवस्था में कोई भेद है मोक्ष में आवरण नहीं है सुश्रुति में आवरण है और जागर सपने में आवरण है और अधिक विक्षेप भी है दृष्टान्त देते हैं स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता समाया कल्पित विश्वलोके लोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमभिभूत तमोभिभूत सुख में सजीव सपने सुख दुख भोगता सपने में जीव सुख दुख तो भोग करता है जागृत काल में सुख दुख तो भोग करता है स्वप्न काल में सुख दुख तो भोग करता है सुख का लक्षण क्या है ये तो हो गया और कोई है धर्म मात्र असाधारण कारणम धर्म है जिसका असाधारण कारण सुख का लक्षण है न्यायविधि में और अधर्म मात्र असाधारण कारण दुख है दुख का निमित्त कारण तो बहुत बन जाएगा असाधारण कारण है अधर्म पाप सुख का असाधारण कारण है पुण्य पुण्य आपका उदय हुआ सुख मिलेगा निमित्त बन जाएगा आपको कोई कष्ट देता है कोई सुख देता है आपके पुण्य पाप के अनुसार पुण्य उदय हो गया तो आपका मित्र भी आपके प्रति अनुकूल हो जाएगा अरे पाप हो तो मित्र भी शत्रु हो जाए शत्रु अनुकूल हो जाता है पुण्य होने पर शत्रु भी मित्र तो अनुकूल है शत्रु भी अनुकूल हो जाएगा और यदि पाप हो तो मित्र भी प्रति वो प्रतिकूल हो अथवा नहीं हो आपके पाप के कारण वो दिखेगा इस प्रकार कभी कभी ऐसे होता है वो प्रतिकूल नहीं है और जैसे ऐसे ही है किंतु अपने पाप होने पर उसको देखने पर लगे हाँ ये मेरे ओर देख रहा है <laughs> किस लिए कि मैं आज स्नान किया देर में इसलिए <laughs> उसको पता नहीं है अपने दुख समझ जानता है वो देखा या तो क्यों देख रहा है हाँ मैं आज स्नान नहीं किया इसलिए देख रहा है <laughs> वैसे अपने पाप के कारण संशय करते हैं वो ऐसे देखता है अन्य समय कर देखता है खुश होता है बंधु मेरे और देख रहा है तो खुश हो रहा है और यदि अपनी कुछ पाप के कारण अपने स्वयं संदिग्ध है उसमें देखता है क्यों देख रहा है विचार करता है विचार करने पर छोटी चीज को विचार कर तो कहाँ कहाँ कितने दूर तक पहुंच जाएगा अपनी गलती स्वयं जानता है ऐसे ही ऐसे होता है सत्य है एक ब्रह्मचारी था भोजन करते समय देखता कोई मेरे को देख रहा है क्यों देख रहा है मैं पढ़ता नहीं किंतु ज़्यादा खाता हूँ <laughs> इसलिए देख रहा है <laughs> ये तो सबको दिखता है कभी खाने पर कोई किसको ऐसे देख लेते वो कोई भावना नहीं देखने हिसाब से नहीं आँख तो खोला है कभी कुछ होता वो सोता है मेरे और देखता है इसलिए कि मैं नहीं पढ़ता हूँ इतने खाता हूँ अपने आप देता है दुखी होता है एक दिन लक, कुछ सेवा करने के लिए पड़ा लकड़ी फाड़ने के लिए वो कहा मैं लकड़ी फाड़ूंगा सेवा करते बहुत लकड़ी फाड़ा उस दिन अच्छी तरह से रोटी खाया खुश होकर बोला आज पेट भर के खाया रोज नहीं खाता है नहीं खाता तो है रोज किंतु हमेशा ये भय लगता है सब लोग मेरे देखते होंगे सोते होंगे ये पढ़ाई नहीं करता है खाता आज इतने काम किया तो फिर ऐसा कोई नहीं सोचेगा <laughs> अच्छी तरह से निश्चिंत होकर खाया <clears throat> पुण्य पाप के कारण सुख दुख होता है इसलिए यही निश्चय करना चाहिए शास्त्र श्रवण करके थोड़े थोड़े शास्त्र में जैसे कहा गया उसको जीवन में अपने में लाए ऐसे उतारे ये निश्चय हो गया पुण्य कर्म आ, से सुख मिलेगा असाधारण कान है उसके अनुसार निमित्त तो कोई बन जाएगा पाप कर्म दुख देगा और दूसरे का कोई दोष नहीं है दुख मिलता है तो अपने पाप इसलिए दुख भोग करते समय अन्य को दोष नहीं देना इससे और एक अधिक पाप करते हैं अपने पाप कर्म का फल भोगना पड़ा भोगा जो पाप कर्म फल आपको भोगना है यदि कोई निमित्त बन करके आपको दुख भोगने में सहायक हुआ दुख भोगने में नहीं आपके पाप कर्म कर्म को समाप्त करने के लिए सहायक हुआ आपने पाप कर्म लेकर के आया उसको भोगना ही था भोगना ही है कोई सहायक आकर के आपके पाप कर्म को थोड़ा कम कर दिया वो आपका मित्र है या शत्रु है हैं जो आपके पाप कर्म का कम कर देता है वो आपका मित्र है पाप कर्म कम कैसे होता है मालूम है कुछ पाप कर्म का फल भोग लो कम होगा धन कम कैसे होता है अपने पास जितने धन उसमें कुछ व्यय हो गया तो कम होगा कोई ले गया खर्च हो गया तो कम हो जाएगा पाप लेकर आया पूंजी इकट्ठी बहुत पाप लेकर आया पुण्य भी लेकर आया वो कर्म को अपने आप भोगने के लिए कोई उससे नहीं ले सकता है अभी बताया था चोर भी नहीं ले सकता कोई नहीं लेगा पुण्य पाप जितने निश्चिंत रखो कोई नहीं लेगा और भोगना अपने को ही है जैसे पुण्य से पाप तो पाप कर्म आपको भोगना ही है यदि कोई सहायक बनकर थोड़ा भोग करके पाप कर्म कम कर दिया वो आपका उसको दोष नहीं देना वो क्यों दुख दिया करके वो दुख दिया नहीं आपके पाप कर्म को कम कर दिया पाप कर्म कम हो जाना चाहिए नहीं भार लेकर के रखा है पुण्य पाप बहुत ही तो भार कमती करना है समाप्त करना तो करना हो समाप्त तो होगा नहीं चाहने पर भी समाप्त होगा तो पहले पाप कर्म कम हो जाए यही निश्चय करके दूसरे को दोष नहीं देना दूसरे को दोष देकर और पाप होता है ये पुण्य पाप के फल भोगता है सुख दुख जागृत अवस्था में भोग करता है स्वप्न अवस्था में भोग करता है जागृत भोग देने वाले पुण्य पाप कुछ कर्म अलग है स्वप्न अवस्था में भोग देने वाले पुण्य पाप कुछ अलग है जो कर्म स्वप्न में फल देने वाले वो कर्म स्वप्न में देंगे जो कर्म जागृत में देने वाले वो जागृत में देंगे इसलिए कोई सोया हुआ है तो उसका स्वप्न भोग प्रद कर्म तैयार हो गया तो सुश्रुति अवस्था में स्वप्न अवस्था में आ जाएगा सपने में देखेगा सपने में सुख दुख दोनों होता है और जागृत कर्म तैयार हो गया उसको फल देने के लिए तो सपना टूट जाएगा सपन अवस्था में नहीं रहेगा फिर जग जाएगा फिर जागृत काल में उसको पुण्य पाप कर्म फल देंगे भोग करेगा जब जागृत भोग प्रद कर्म समाप्त हो जाते हैं तो सो जाता है सपना भोग प्रद कर्म है तो सपना फल में फल देंगे वो भी समाप्त हो गया तो सुश्रुति में जाएगा तो कर्म फलों का भोग सुख दुख भोग जागृत काल में होता है स्वप्न काल में होता है दोनों इसलिए जागृत अच्छा जागृत काल में अन्यथा ग्रहण होता है या स्वप्न अवस्था में अन्यथा ग्रहण होता है दोनों में तो जागृत काल में जो ग्रहण होता है अन्यथा स्वप्न काल में अन्यथा और आवरण जागृत स्वप्न दोनों में है क्या आवरण दोनों में है हाँ दोनों बराबर है इसे जागृत को भी स्वप्न कहीं कहीं कह देते हैं अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न है अन्यथा गृहण तो स्वप्न निद्रा तत्व अजानत मांडुके में कहा गया तत्व को नहीं जानता अग्रहण है तो निद्रा और अन्यथा ज्ञान होता है तो स्वप्न दो विवाह कर दिया सुश्रुति काल में निद्रा है तत्व का अग्रहण और जागर स्वप्न दोनों है स्वप्न अन्यथा ग्रहण होता है अज्ञान तो है अन्यथा ग्रहण विशेष है तो सुख सुश्रुति अवस्था में अन्यथा ग्रहण नहीं होता है सुश्रुति अवस्था में विषय कुछ है कुछ भी विषय नहीं होने पर सुश्रुति काल में सुख प्राप्त होता है तो कितने सुश्रुति के लिए सो जाते हैं सया बड़े सुंदर सया करके आराम से लेट जाते हैं तो छोड़ करके विषय से सुख मिलता है तो विषय को कोई नहीं छोड़ता गाढ़ निद्रा में सुश्रित अवस्था सब विषय को छोड़ कर सो जाते हैं सोते हैं ना नहीं कोई विषय को ग्रहण करेगा सो बिना सोए निरंतर नहीं कर सकता है तो ये समाया कल्पित लोके सुख तो भोग करता है माया से कल्पित सब सरस्वती काल में सब लीन हो जाते हैं तमस से अभिभूत होकर के अज्ञान में सुख रूप को प्राप्त करता है सुख स्वरूप अज्ञान तम अभिभूत सुकर्म पैती उसका अर्थ बताएंगे सरस्वती काल में अज्ञान है ये वाक्य से स्पष्ट होता है तम अभिभूत सुखरूप में अज्ञान से आच्छादित सुख रूप को प्राप्त करता अज्ञान रहता सरस्वती काल में ओम सहना सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी मा विद्विषावहै ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः